गरीबी के हम कैदी हमको तुम आजाद करो आजाद करो आजाद करो भूख गरीबी के हम कैदी हमको तुम आजाद करो आजाद करो आजाद करो उजड़े हुए दिलों की बस्ती उजड़े हुए दिलों की बस्ती फिर से तुम आबाद करो आजाद करो आजाद करो आजाद करो आए सूरज ने पीनी हसी चाँद ने लूटी है आने सूरज ने चीनी है हसी चाँद ने लूटी है आंखों चुरा लिए तारों ने किस्मत हमसे रूठी है आंखों चुरा लिए तारों ने किस्मत हमसे रूठी है उम्मीदें जो को कर जीते उन पर मत बेदाग करो आजाद करो आजाद करो आजाद करो आए बागबाने गुलशन दे हस्ती राज मिटा दी है हाय बागबाने गुलशन दे हस्ती राज मिटा दी है हमने से थे तुमने आग लगा दी है इन शाखों पे दमने अरे परिंदो तुम क्यों चुप हो रो रो कर फरियाद करो आजाद करो आजाद करो आजाद करो हसा हसा कर जख्मों को पाला और प्यार किया अपने जख्मों को पाला और प्यार किया उसकी नाव बाधी और गैरों का बेड़ा पार किया उसकी नाव डुबादी और गैरों का बेड़ा पार किया अपन बाग कर हम जाते हैं तुम अपना दिल शाद करो आजाद करो आजाद करो आजाद तुम आजाद करो आजाद करो आजाद करो